प्रेमांक के उदय होने पर जो नौ लक्षण उत्पन्न होते हैं उनके संबंध में विचार हुआ प्रेम ज्ञान भगवत प्राप्ति बोध आत्म साक्षात्कार ये सब एक ही चीज है सत्य एक है परमात्मा एक है उस एक की ही प्राप्ति के और एक की अनुभूति के ये विभिन्न साधन है और वो इतना विचित्र है इतना वो विविध वैचित्रमय है कि उसकी सारी विविध अनुभूतियां सत्य हैं सब उसी में है ना उसी की अनुभूतियां हैं इसलिए छोटा बड़ा मानने की आवश्यकता नहीं भ्रम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पर इन सभी मार्गों में एक चीज बड़ी आवश्यक है वो है मानव धर्म वो है मन इंद्रियों का भगवान की ओर लगकर दूसरी ओर से विरत हो जाना चाहे वो भगवान का वहां उनके मन में कोई रूप हो किसी मार्ग से हम जाए पर पाथे चाहिए राख राख है चाहिए ही तो इसीलिए ये मानव धर्म यम नियम दैवी संपत्ति मनुष्य के भागवतों के धर्म कहीं दस हैं कहीं अठारह हैं कहीं उनचास हैं कहीं छब्बीस हैं अलग अलग विस्तार और संकोच से भेद है पर ये सब के लिए आवश्यक है बहुत बार भूल होती है इसमें बड़ा अच्छा होता है इस बात को समझ लेना पर समझते नहीं भूल करते हैं और भूल होती क्यों है ये अपने अंदर के दोष को मिटते नहीं और ज्ञानी प्रेमी महात्मा महापुरुष भगवान को इसलिए महात्मापन महापुरुषपन भगवत्ता इत्यादि की आड़ लेकर अपने दोषों का समर्थन करते हैं मनुष्य ये बहुत बड़ी कमजोरी और पतन का मार्ग है प्रेमी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग में कोई विधि निषेध नहीं जो चाहे से आबाद करो और मन इंद्रिया वश में नहीं तो परिणाम ये होता है कि भगवान के नाम पर प्रेम के नाम का दुराचार फैलता है अनाचार फैलता है भ्रष्टाचार फैलता है तो सबसे पहले इस सावधानी की आवश्यकता है बोले हमको योग मार्ग के द्वारा समाधि प्राप्त करने लगे और समाधि अवस्था में कोई कुछ भी करने का क्या आपत्ति है ऐसे हमारे पास समाचार आया करते हैं योगियों के भी भक्तों के भी और भगवान के अवतारों के भी आजकल बहुत अवतार इस समय हो रहे हैं भारतवर्ष वेद नहीं है हमारे पास एक अवतार फाइल है तो अभी अभी दो पत्र आते हैं आजकल एक अंग्रेजी में आता है बड़ी अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं सज्जन कोई वो एक किसी का अवतार मानते हैं और एक हिंदी में पत्र आता है इन दोनों में कई पत्र विचार थे वो भी अपने एक महात्मा को अवतार मानते हैं तो अपने गुरु को भगवान मानना इसमें आपत्ति नहीं है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात कर ब्रह्म कृष्ण गुरु गुरुदेव नम गुरु भगवान में अंतर नहीं वो अलग चीज है और ये बिल्कुल उससे जुदा चीज है तो ये दो से कहो ज्ञान में बड़ी सुंदर बाह्यानुवृत्ति की आड़ है भाई हम कुछ करते नहीं हमारे में करता अपन है नहीं बिना बिना सुदर्शन के कीमत आने सज्जे थे जिन दिनों में वर्त रहे इंद्रियों की इंद्रियों में संचालना हो रही हमारा कुछ लेन देन हम हम बिल्कुल अलग से अलग योग में यमुनी को बताया है आधार यम नियम रुचि अगर न्यून हो तो योग का प्रासाद खड़ा नहीं रह सकता भगवान की अनुरक्ति के साथ विषय विरक्ति न हो तो प्रेम की इमारत बन नहीं सकती ज्ञान में यदि विवेक वैराग्य शब्द संपत्ति न हो तो मुख्यता पैदा नहीं हो सकती मुख्य तो कहाँ से होगा पर ये भ्रम और भ्रम ही अधिकतर फैलाया जाता है उपदेष्टाओं के द्वारा परसों परसों हमारे पास एक कोई आए थे तीन चार दिन पहले कोई थे नाम बताने की आवश्यकता नहीं और पुरुष हुआ बताने की आवश्यकता नहीं उन्होंने हमसे काल साहब में बैठे भी नहीं उन्होंने कहा हमसे तो आश्रम में हमारा निर्वाह नहीं होता हमने कहा क्यों बोले आश्रम में धन चाहिए धन चाहिए और ये दो हम दे नहीं सकते हमारे पास है नहीं इसलिए हमारा निर्वाह नहीं हो सकता तो उनकी बात में कहाँ तक क्या तथ्य है सब तो नहीं जानते और मैं सब पर कोई आक्षेप और न सब ऐसे हैं ही लेकिन यदि कहीं ऐसी चीज कोई है भी तो वो चीज बुढ़े सुनते कमजोर है तो हम चाहे प्रेम का साधन करें चाहे भक्ति का करें चाहे योग का करें चाहे वेदांत का करें प्रेम का करें दो बात ख्याल रखने की है एक तो साध भगवान है उनको कहीं छोटा न बना दी थोड़ी सी सीमा में उनको हम अपनी सीमा में लेकर के रख लें तो दूसरे जो इस रूप को नहीं मानते जानते भक्ते उनके भगवान को दूसरा मानने ये न करें अपने भगवान छोटे हो जाएंगे और दूसरी बात किसी भी साधन में हम जाएं किसी भी मार्ग में हम जाएं जैसे मार्ग का पाठे अच्छा संग आवश्यक है किसी प्रकार दैव संपत्ति यम नियम मानव धर्म इंद्रियों का संयम मन का भगवान की ओर अपने साध्य की ओर लगना की आवश्यक है इन तो दो बात में ख्याल रखें नहीं तो बड़ा भय है हम चाहेंगे करना और कारण और होगा अंधे नियमाना यथांधा की तरह से गहे में गिरना तो ये एक सावधानी की आवश्यकता है सब तो अपने को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए सीधी सरल बात है बड़े सीधे शब्दों में अपनी भाषा में भगवान हमारे अंदर दोष भरे उन दोषों को कृपा पूर्वक आप दूर करें इस प्रकार का कोई मौका ही न आने दो कि जिसमें दोष उत्पन्न होने की संभावना ही और यदि हम कहीं गिरने लगे तो आप तत्काल हाथ पकड़िए पकड़ते हैं हाथ भगवान का यदि आश्रय होता है तो ऐसा चमत्कार होता है कि गिरते हुए को तो तत्काल भगवान पकड़ लेते गांधी जी ने अपने जीवन में लिखा है वो इंग्लैंड में थे एक होटल में एक होटल में थे अभी नौजवान थे तो यहाँ कुछ ऐसी घटना हुई और गांधी जी के मन में ऐसा विचार आया कि वो पतन होने जा रहा है तो वहाँ पर एक तो कोई बड़ी उम्र के सज्जन थे वहाँ पर उनको उसमें भगवान ने भेजा और एक उनके मन में राम नाम जा रहा है वो उसने तो उन्होंने तो कहा बड़े सुखों बोले मोहनिया क्या करता है मोहन तुम नाम था मोहनदास करमचंद तो क्या करता है मोहनिया सावधान हो गया और राम का नाम याद आ गया गांधी जी लिखते हैं मुश्किल अगर मेरे पास राम नाम न होता और राम नाम यदि याद न आता तो मैं अपने जीवन को निष्कलंक नहीं बता सकता गुरु तो महाराज बड़े बड़े लोग कुसंग में जाकर गिर जाते हैं इसलिए दुष्संग सर्वथैव बरुभल वास नरक कर काका दुष्ट संग जन देह विधाता गुरु संग को कभी दिखाता न जो नरक में रहना गर्म अच्छा नरक में रहने से पाप का फल भोग कर हम पाप के ऋण से मुक्त होते हैं और बुरे संग के तो नए नए पापों को उत्पन्न करने वाली पैदा करने वाली खान है ये पाप खान इसको पाप खान कहा है पापा कर ये दुसंग का नाम है पाप की खान अध खान पाप की खान है पाप यहाँ से पैदा होते हैं और दुसंग का सीधा अर्थ यही है कि हमारे मन में हमारी इंद्रियों में हमारे जीवन में विकार पैदा हो जाए और भगवान से विमुखता आने लगे वो सारा का सारा दुष्बंध है ये चाहे आदमी का हो चाहे स्थान का हो चाहे साहित्य का हो चाहे चित्र का हो इंद्रियों के किसी विषय का हो और मन के किसी विषय का हो वो दुष्संग है दुष्संग का सर्वथा त्याग आवश्यक है बड़े से बड़ी कड़ी से कड़ी बुरी स्थिति को आदमी सह ले कोई आपत्ति नहीं अभाव से अभाव में ग्रस्त हो जाए कोई आपत्ति नहीं पर बुराई से बचने का प्रयत्न वो जी जान से करे और इसी के लिए भगवान से बल मांगे हे नाथ आप शक्ति दो आप बल दो जिससे बुराई से हम बच सकें बुराई करते रहे और भगवान से क्षमा मांगते रहे ये ठीक नहीं बुराई की जड़ कट जाए हमारे जीवन में से अनर्थ निकल जाए तो क्या अर्थ भगवान हमारे जीवन में आ जाए और हम भगवान को कह सके तुम हमारे ये ये जब ये तभी कह सकेंगे जब हम किसी अनर्थ को हमारा नहीं मानेंगे कभी सच्चे अर्थ में भगवान को अपना कह सकेंगे और बड़ी सरल भाषा में कहेंगे कि नाथ इतना हमें कह लेने दो हम तुम्हारे हैं एक दूसरे पद है कहा बड़ा सुंदर पद है इसमें रविंद्रनाथ का है गीतांजलि में बड़ा अच्छा है তুমি আমার আপন তুমি আমার আপন তুমি আছো আমার কাছে এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও ये बड़ी सुंदर चीज है वो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि तुम मेरे अपने हो तुम मेरे अपने हो कि दूसरे मेरे अपने को मैं छोड़ देता हूँ मैंने बात की बात तो है ही नहीं बुरी चीज को तो छोड़ ही चुका लेकिन जिनको अपना मान करके तुम्हें भूल रहा था उन सबको छोड़ चुका तो तुम्हें आपका अमार आपन तुम्हें आखों अमार का थे तुम मेरे अपने हो तो तुम सदा मेरे पास हो यही तो था कि बोलते जाओ बोलते जाओ ये मुझे कहने ये मुझे कहने को छोड़ दे दो श्रद्धा विश्वास को मान लो तुम्हें आसन तुम आसो हमारे ये कथा तुम बोलते जाओ हे बोलते जाओ तुम मेरे अपने हो और सदा मेरे पास हो ये बात मुझे बोल लेने दो कह लेने दो मधुर मान लो इस बात तुम्हार में भी मोर जीवन मेरे सब आनंद आते एक कथा तुम बोलते जाओ हे बोलते जाओ तुम्हारे अंदर ही मेरे जीवन के सारे आनंद भरे केवल तुम्हारे अंदर और कहीं केवल तुम्हारे ही अंदर तुम्हारा माधे केवल तुम्हारे ही अंदर मेरे जीवन के सारे आनंद भरे हैं ये मुझे कह लेंगे दो कह लेंगे আমায় দাও সুধাময় সুর আমার বাণী করো সুমধুর আমার প্রিয়তম তুমি এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও मुझको तुम अमृत में सो दे दो जो केवल तुम्हारे ही प्रेम के अमृत को बहाने वाला हो किस प्रकार का सुधा में सिर्फ मुझे दे दो और मेरी वाणी को इतनी सुमधुर बना दो कि जो तुम्हारा इनाम गाती रहे ये वाणी सुमधुर और तुम मेरे प्रियतम ये बात मुझे कह लेने दो कह लेने दो हमारे प्रियतम तुम ये कथा की बोलते दाओ है बोलते दाओ এই নিখিল আকাশ ভরা তোমা দিয়ে ভরা আমার হৃদয় হতে এই কথাটি बोलते जाओ हे बोलते जाओ बड़ी सुंदर बात ये आकाश ये सारा आकाश ये और ये सारी पृथ्वी ये मेरे पुरुषन ये केवल तुम से भरा ये बात मुझे अपने हृदय से कहने मिले हृदय निखिल आकाश भरा ये सारा आकाश है धरती यही निखिल आकाश भरा ये जो तुम्हें दिए भरा कि तुम्हारे द्वारा परिपूर्ण है आमा मुझको हृदय होते ये कथा थी हृदय से ये बात बोलते दाव है बोलते दाव कह लेने दो कह लेने दो दुखी जी জেনে কাছে আসে তোকে বলে ভালোবাসো আমার ছোট মুখে এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও तुम जिसी दोस्त तुम क्या खाते हो और तुम छोटा समझ कर प्यार करते हो मैं दुखी हूँ और छोटा हूँ तो मुझे अपने छोटे मुंह से ये बात कहने दे कहे तो कितना सुंदर ये साधना का भाव है फिर क्या कर्म थे नाम आओ नाम आओ आमाओ तुम्हार कर्म बोले बोला हो बोलाओ हो मैंने भाषाओ जीवन में बोले झुका दो झुका दो अपने कर्म तल में झुका नामाओ नामाओ झुकाओ झुकाओ नामाओ नामाओ आमाओ तुम्हार चरण चले मुझे अपने चरण तले में झुका लो झुका लो जलाओ हे मन भाषाओ जीवन मन जले मेरे मन को गला दो मेरे मन को गला दो और अश्रुओं के जल से मेरे जीवन को बहा दो गोलाओ हे मन भाषाओं जीवन नयन जाले जब तक मन द्रवित नहीं होगा तब तक ये द्रवित मन के का जल आंखों में नहीं आएगा और और मन का आएगा और जब भगवान के चरणों में हमारा मस्तक झुक जाएगा निर्भिमान होकर तो समय क्या होगा कि हृदय द्रवित होगा और द्रवित हुए हृदय का जो वो जल है कलेले ये नैनों के द्वारा निकलकर जीवन को प्रवाहित कर देगा जीवन को भिगो देगा पीछ देगा तो नामाओ नामाओ अमाय सोमार स्वरम चले बोलाओ हे मन भाषाओ जीवन नयन जले ऐसा आनंद অহংকার আসলে বাসন আসন ধুলায় লুচাও ভাঙা সবলে নামাও নামাও আমায় তোমার চরণ चले मैं अहंकार के ऊंची आसन पर अचल बैठा देखा हमें अहंकार ऊंचे अचले अहंकार के ऊंचे पहाड़ पर ऊंचे आसन पर मैं बैठा तुम महाराज ये करो इस पहाड़ को तोड़ डालो भांगो सब बोले जल पूर्वक इस पहाड़ को चूर चूर कर दो और इस पाषाण के आसन को धीरा लिखाओ धूल का करो इस मेरे अहंकार के पाषाण आसन को बल पूर्वक चूर चूर करके और धूल साफ कर दो धूल नहीं मिला और हमारे चले अपने तन में मुझसे झुका दो गर्भ करी व्यक्त जीवनी धरागृहे शून्यवाणी तेना विहने দিনের কর্মে দিদি কোমরা কোন অদলে সন্ধ্যা বেলার পূজা যেন যায় না বিফলে नामा ओ नामा नामा बड़ी सुंदर बात ये कही महाराज ये कहते हैं गर्भ करी व्यक्त जीवन इस व्यक्त जीवन में किस बात को लेकर मैं गर्व करूं जिस जीवन में कुछ कमाया ही नहीं और अर्थहीन जीवन में किस बात को लेकर मैं गर्व करूं बोले तुम्हारा जो हरा घर है धन है दौलत है पुत्र है पौत्र है मान है संपत्ति है सब है अधिकार है ये सब तो कहते हैं धरा गृह शून्यवाणी बना विहोने घर धरा है तो तुम्हारे बिना सुना है जब घर में तुम नहीं हो तो तुम्हारे बिना सुना घर फिर मैं किस बात का गर्व करूं लेकिन नाथ दूर करूं दूर के मोर आ गए जीवन की संध्या आ गई है कहता है कि मेरे जीवन के कर्म अपने अचल पहाड़ में सब डूब गए अर्थात मेरे जीवन भर अहंकार की सेवा से कुछ किया नहीं हमार दिनेर कर्म डूबे से निर आत्म अचल मेरे दिन के सारे कर्म मेरे जीवन के सारे कर्म उस अहंकार के पहाड़ में डूब गए उसी में रंग गए अब संध्या देवी और पूजा देवी जाए भी खोले तो संध्या काल की मेरी पूजा का नाश विफल मत कर देने पूजा का फल क्या नाम आवे नाम आवे आना तो मार चरण पहले मुझको अपने चरण कल में झुका लो तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य तो जब अपनी बुराई को लेकर के बुराई का भान होने लगे तो बुराई के लिए जब पश्चाताप होने लगे तब स्वाभाविक भगवान के सामने उसकी आत्म पुकार निकलती है और ये आत्म पुकार जब निकलती है आत्म पुकार जब निकलती है विश्वास के साथ तुरंत भगवान सुन लेते हैं सुगुणाचार अपि अतिशय सुगुणाचार भजते माननिभा साधुरे सम्मे समुदेश हिंसा ये आप प्रकार उसके द्वारा नहीं निकलती मनो वृक्ष को नहीं रहा प्रबंधन के नाराधन है उस नाराधन के द्वारा ये आप प्रकार नहीं निकलती ये नहीं होता भगवान के सामने पर जब दुष्कर्म में दुष्कर्म बुद्धि होती है और मन में एक पश्चाताप की आग जलती है और उसको बच नहीं सकता पाप तब वो समर्थ प्रभु की ओर जाकर एकांत भाव से पुकारता है नाथ मेरे शरीर से मुझ को बचाने वाला और कोई है नहीं तो सचमुच कोई नहीं है उस तो अवस्था में गले लगाने वाला कोई है ही नहीं सब दुनिया करते हमारा पास बैठने में जब तक हमारा पाप चौड़े न आवे तब तक तो सब साथ ही और कहीं पाप में हिस्सा मिलने लगे तो भगवान को कहेंगे भी हम तुम्हारे आत्मा से हमको साथी हैं और जीवात्मा के रूप से कहीं सूक्ष्म देह के द्वारा न भोगने पर भी वही भोगेंगे भी <laughs> दूसरा कौन भोगेगा पर संसार में कोई साथी नहीं मिलेगा हमको ये कहने वाला कि हम तुम्हारे ही बोले हमारे को हैं पर इस बात को प्रकट न करना देखो हमारी बदनामी हो जाएगी तो सारे बदनामी को से लेने निभाले वे भगवान हैं तो उस समय मनुष्य की एक आर्थ पुकार निकलती है ये रविन्द्र की आर्थ पुकार बड़ी अच्छी लगेगी है तो ये इसमें दो चीज की आवश्यकता है बहुत ये समझने की बात है फिर मार्ग की बात करनी चाहिए सबसे पहली बात तो है मार्ग का ही साथ ले लेना असावधान न रहना मार्ग में नहीं तो मार्ग कैसा भी हो प्रमाद होगा और रस्ते में कुछ साथ नहीं होगा तो गिर जाएंगे खाने को मिलेगा नहीं किसी गढ़े में जा गिरेंगे मर जाएंगे तो पहली चीज तो है ये दैव संपत्ति के गुण इंद्रियों के विकार से बचना मन को भगवान की ओर लगाना और ऐसे सारे कार्यों से पांचों इंद्रियों के सारे कार्यों से जहाँ तक हो बचकर रहना और बचकर रखने को रखना जिसमें विकार के लिए गुंजाइश न हो दूसरी चीज अपनी साध में जो हमारा इष्ट है उसमें और अपने साधन में कभी भी हीन बुद्धि न करना इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे इससे हीन है दूसरों दूसरे नीचे हैं और ये हमारा ऊंचा ये नहीं अपने में हीन बुद्धि नहीं अपनी इष्ट भगवान राम के लिए किसी ने तुलसीदास जिसे कहा कहा कि नहीं पता नहीं ऐसी सुनी हुई बात है कि भाई तुम्हारे राम जो है तो बारह कला अवतार हैं और श्री कृष्ण हम षोडश कला अवतार हैं तो तुम राम ही को भजते हो तो पृथ्वीराज जी प्रसन्न हो गए बड़े खुशी हुए तो किसी सोने कला है तुम इस बात पर तो बोले नहीं तो तुम्हारा सुनी नहीं उन्होंने और कहने लगे कि हैं हमारे राम बारह कला अवतार हैं हम तो उन्हें दशरथ पुत्र ही मानते थे यही बोल के बचते थे तो तुमको तो बारह कला अवतार बताते हो कुछ बड़ी अच्छी बात हुई हमारे तो विश्वास अद्वैत हो गए तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो श्री कृष्ण का अपमान करते पर अपने इसमें लिए हुई बुद्धि हो इस प्रकार स्वरूप लिए पद पद पर बदलते ने आज शिव जी को भजा कल देवी जी को परसों गणेश जी को उनको एक मान्य भजनी है एक है ही परंतु साधना के मार्ग में बार बार मार्ग बदलने वाला आगे बढ़ नहीं सकता ये बदले करिए बदला करिए बदला बदलिए ये जीवन बदलता चला जाता है और आगे बढ़ नहीं सकता तो अपना राम अपना प्रयत्न अपना प्रभु अपना इष्ट और अपना साधन जो अपने योग्य है उसके द्वारा चलता रहे लक्ष्य पर ध्यान रखे और चलने में कहीं प्रमाद न करे नहीं तो राह में जेल हो जाएगी ये भय अपने मन में रखे और भगवान से प्रार्थना करे कि हमारी इस यात्रा को आप निर्विघ्न चलाओ और यात्रा में सबसे अच्छी बात है ये है यदि हम कर सके किसी भी यात्रा में किसी भी प्रकार की ये साधन की यात्रा में एक बात अगर हम कर सकें तो वो सर्वोत्तम है वो वो सब प्रकार से रक्षक है वो ये कि जिसके जिसको हम पाना चाहते हैं उसके साथ होना बस जिसको हम पाना चाहते हैं वो यात्रा के लिए चल करके हमारे साथ हो गए उसकी समृद्धि में हम चल रहे हैं उसकी देख रेख में हम चल रहे हैं हम हमें केवल उसी को याद रखते हुए चलना है उसी में मन लगाए हुए चलना है उसी को काटते हुए चलना है उसी को भटते हुए कि चलना है और तरफ साधना नहीं तो प्रतिज्ञा करके घोषणा करता है वो अपनी तरफ से योग क्षेत्र वहां नहीं अहम वहां में भार धोना बहन का अर्थ धोना बहन कहते धोने को तो भगवान धोने का जिम्मा लेते हैं दो चीज को धोने का जो तुम्हें मिला है उसको बचा देने का धार हमारा तुम निश्चिंत रहो अपना तुम्हारे किसी चोर डाकू को नहीं आने देंगे कोई छीनने वाले को लूटने वाले को चुराने वाले को बिल्कुल नहीं आने देंगे हमारा पहरा रहा और ये भार हम स्वयं लेते कि सिपाही का नहीं भेजेंगे सिपाही नहीं भेजेंगे हम स्वयं रहेंगे पहरे पर नहीं आने देंगे और भाई जो तुम्हें आवश्यक है इसका जुगाड़ हम कर देंगे वो भी भार हम देंगे हम ढूंढ के ले आएंगे ये एक कथा आती है ऐसी उत्कल प्रांत की